क्रांति बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन एस धमो सनंतनो प्रवचन नंबर पिछहत्तर भाग दो रोहिणी का छवि रोग ये रोहिणी छवि रोग से पीड़ित हो गई अभिमानी रही होगी मानी रही होगी भाई बुद्ध का बड़ा भिक्षु है अनिरुद्ध के भी 500 शिष्य थे अनिरुद्ध काफी महत्वपूर्ण शिष्यों में एक था वो गांव में आया है सारा गांव उसके दर्शन करने को आया है सारा परिवार गया और रोहिणी नहीं गई तो सोचा होगा अनिरुद्ध ने कि बहन को क्या हुआ आई क्यों नहीं खबर भिजवाई होगी आई भी तो पर्दा करके आई घूंघट बड़ा डाल लिया होगा उसने पूछा कि मुझसे घूंघट भाई से घूंघट भिक्षु से घूंघट ये बात क्या है तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तो उसने सारी कथा कही उसने कहा कि मैं छवि रोग से पीड़ित हूं मेरी छवि विकृत हो गई चेहरे पर फपोले पड़ गए हैं चमड़ी कुरूप हो गई है और मैं इस चेहरे को तुम्हें ना दिखाना चाहूंगी मुझे बड़ी लज्जा आती यह भी अहंकार है लज्जा भी अहंकार की ही छाया है लज्जा क्या जैसा है वैसा है लज्जा का अर्थ ही यह होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता वैसा नहीं है और जैसा है वैसा मैं चाहता नहीं वैसा मुझे स्वीकार नहीं अंगीकार नहीं लज्जा में ही विरोध है जो तथ्य है उसका विरोध है और सपना और कल्पना कोई होना चाहिए था वो नहीं तो उसने कहा मुझे बड़ी लज्जा आती तुम आमतौर से सोचते हो कि लज्जालु व्यक्ति सज्जन होता वो भी अहंकारी होता लज्जा साधु को होती ही नहीं इसलिए तो मीरा ने कहा सब लोकलाज खोई परम साधु को कैसी लोकलाज लज्जा का तो अर्थ ही होता है कि अभी चल रही भीतर अहंकार की धारणा पूरब में हम कहते हैं हमारी स्त्रियां अत्यंत लज्जालु है और लज्जा को हमने गुण माना है पश्चिम की स्त्रियों में वैसी लज्जा नहीं तो हम सोचते हैं ये बात तो निर्लज इनमें कोई लज्जा नहीं लेकिन इसे तुम समझना लज्जा का मतलब अहंकार है पूर्व की स्त्रियां ज्यादा अहंकारी उन्हें अपने सील सौंदर्य चरित्र सतीत्व का बड़ा गहन घमंड पश्चिम की स्त्री इस अर्थ में सीधी सरल है उसे कोई लज्जा नहीं अहंकार के ही साथ लज्जा आती वो अहंकार की ही सजावट है अहंकार पर ही सोना मर दिया तो हम खूब प्रशंसा करते हैं कि देखो फला आदमी कैसा लज्जा लो हम बुरे आदमी को कहते हैं बेशर्म अच्छे आदमी को कहते हैं शर्म वाला फिर मीरा क्या कह रही सब लोकलाच खोई सब शर्म खो दी सच्चा आदमी न तो बेशर्म होता है न शर्म वाला होता है सच्चा आदमी बस सच्चा होता है उसमें कोई लज्जा नहीं होती और ना निर्लज होता है निर्लज होने की भी कोई जरूरत ना रही वो भी लज्जा का ही रूप है वो भी लज्जा को तोड़ता है तब कोई निर्लज होता है लेकिन जिसके पास लज्जा है ही नहीं वो तोड़ेगा क्या बांस होगा तो बांसुरी बच सकती बांस ही ना होगा तो बांसुरी कैसे बचेगी एक ऐसी चित्त की दशा है जो लज्जा अतीत तो रोहिणी आई भी तो चेहरे पर घूंघट डालकर आई दूसरों से तो आदमी लज्जा करता ही अपनों से भी करता जितना अहंकार हो उतनी ही लज्जा बढ़ती चली जाती भाई को आई थी मिलने और भाई भी कोई साधारण भाई ना था बुद्ध के बड़े शिष्यों में एक था पहुंचे हुए सिद्ध पुरुषों में एक था पूछा भाई ने क्या कारण कहा छवि रोग हुआ है फिर भाई ने कुछ और ना कहा उस संबंध में उसने कहा तू एक काम कर इतने भिक्षु आए गांव में इनकी सेवा में लग एक बड़ा भवन बनाना है ये दस हजार भिक्षु टिकेंगे कहां वर्षा आती करीब इनको रहने का इंतजाम करना छप्पर लगवाना उसके पास रुपए भी न थे लेकिन भाई ने कभी कुछ इसके पहले कहा भी ना था माननी स्त्री रही होगी सब जेवर जवाहरात भेज दिए ये मान पर चोट पड़ गई होगी ये भी कहना सकी कि मेरे पास रुपए भी नहीं है इतना मैं कहां कर सकूंगी किया नहीं कर सकती थी तो भी किया लेकिन करने में डूब गई इस बात को ख्याल में रखना तुम्हारे जीवन के श्रेष्ठतम क्षण वे ही होते हैं जब तुम अपने को भूल जाते हो कुछ भी करने में भूल जाते हो चित्रकार चित्र बनाने में भूल जाता है या कि मूर्तिकार मूर्त बनाने में भूल जाता है या कि नर्तक नाचने में भूल जाता है या कि गीतकार गीत में भूल जाता है जब तुम भूल जाते हो किसी भी क्षण जहां तुम्हें विस्मरण हो जाता अपना उसी घड़ी जीवन में परम क्षण उतर आता जहां तुम अपने को भूले वहां अहंकार हट गया एक घड़ी को बादल छट गए सूरज निकला एक घड़ी को अंधेरा टूटा और रोशनी उतरी एक घड़ी को वर्षा हो गई तुम पर अमृत की इसलिए जीसस ने सेवा पर बहुत जोर दिया है सेवा का यही अर्थ है इतना ही अर्थ है कि तुम दूसरे में अपने को डुबा देना तो तुम्हारे जीवन में थोड़ी देर को निरअहकारिता की भावदशा पैदा होगी उससे स्वाद लगेगा और जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि क्षण भर को भूलने में इतना स्वाद आता है इतनी मिठास तो तुम फिर सदा के लिए अहंकार छोड़ देना चाहोगे चाहोगे ही ये तर्कयुक्त होगा स्वाद लग जाए तो तुम फिर चाहोगे कि पूरा ही स्वाद मिल जाए जब अहंकार भुलाने में इतना रस है तो अहंकार को बिल्कुल गिरा देने में कितना रस न होगा लग गई काम में खड़ी रहती होगी भरी धूप में भूल ही गई अपने रूप को भूल ही गई अपने मान को भूल ही गई अपनी बीमारी को चिकित्सक भी कहते हैं कि जो आदमी अपनी बीमारी को नहीं भूल पाता उसकी बीमारी ठीक होना असंभव है इसलिए अगर कोई आदमी बीमार है तो जो पहली बात चिकित्सक चाहता है वो ये कि वो किसी तरह सो जाए बीमार आदमी अगर सोए ना तो इलाज हो नहीं सकता क्योंकि वो भूलते ही नहीं वो खरोद खरोद के बीमारी को देखता रहता है तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम बार बार बार बार वहीं वहीं जाते तुम्हारे जाने से दर्द पर चोट पड़ती और घाव बड़ा होता जाता तुम्हें भूलना जरूरी है मैंने सुना है बनट साह फोन किया अपने डॉक्टर को कि मेरे हृदय में बड़ी तेज धड़कन है बहुत घबराहट है ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आप जल्दी आए कोई आधी रात की बात चिकित्सक आया सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया ऊपर आते ही से उसने एकदम से अपना बैग नीचे पटक दिया और आराम कुर्सी पर आंख बंद करके पड़ गया बनरसा ने कहा क्या हुआ उसने कहा मालूम होता हार्ट अटैक बूढ़ा चिकित्सक था बनरसा तो भूल ही गया अपने हार्ट अटैक को बिस्तर पर लेटा था एकदम उठाया कि कहीं मर न जाए हवा की पंखा किया पानी पिलाया पूछा कि अब कैसी तबीयत है कोई दस मिनट बाद उसने कहा बिल्कुल ठीक वो उठ के चलने लगा तो उसने कहा मेरी फीस तो बनरसा ने कहा कहे कि फीस फीस तो मुझे मांगनी चाहिए उस डॉक्टर ने कहा मुझे कुछ हुआ नहीं कोई हार्ट अटैक वगैरह ये तो तुम्हें तुम्हारी बीमारी भुलाने के लिए अब देखो तुम भले चंगे हो बिल्कुल पहले बिस्तर पे पड़े थे तुम्हारे सामने किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही बनट सा उठ गया दस मिनट में भूल ही गया सब अपनी बात तो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब भी तुम किसी दूसरे में लीन हो जाते हो तुम अपने को भूल जाते हो और बीमारी दूर ही तब होती जब तुम अपने को भूल जाते बीमारी अगर बचानी हो तो भूलना मत इसलिए कुछ लोग बीमारी को बचाने में बड़े कुशल होते हैं भूलते नहीं सुबह से शाम तक बीमारी बीमारी की बात करते जब मौका मिलेगा तब बीमारी की बात करेंगे जो मिल जाएगा उससे बीमारी की बात करेंगे ये जो हाइपोकॉन्ड्रियाक इस तरह के जो लोग होते जो बीमारी में रस लेते इनको ठीक करने का कोई उपाय नहीं कोई उपाय ही नहीं क्योंकि ये बीमारी को कुरेदते जाते हैं ये घाव को सूखने नहीं देते ये घाव को फिर फिर खोल लेते महीनों लगे होंगे गर्मी के दिन रहे होंगे क्योंकि वर्षा के लिए बुद्ध आए थे जल्दी ही वर्षा आने को होगी अषाढ़ के दिन करीब आते होंगे बादल घिरते होंगे जल्दी ही छप्पर डलवा देना था दस हजार भिक्षुओं का इंतजाम करना था रहने का रोहिणी बिल्कुल भूल गई होगी डूब गई होगी काम में कथा प्यारी है कहती है कि निन्यानबे प्रतिशत रोग दूर हो गया फिर भी वो बुद्ध के पास ना गई अभी भी एक प्रतिशत बचा था जाती जाती पूछ बची होगी हाथी निकल गया होगा पूछ बची होगी आखिरी छाया बीमारी की चेहरे पर रही होगी फिर बुद्ध ने उसे बुलवाया और बुद्ध ने पूछा उससे कि जानती हो यह किस कारण हुआ है उसने कहा नहीं बनते अनिरुद्ध ने इलाज कर दिया बिना उसे बताए अनिरुद्ध अद्भुत चिकित्सक रहा होगा बिना कुछ कहे इलाज कर दिया शायद कहने से गड़बड़ भी हो जाती शायद कहने से सचेतन हो जाती रोहिणी फिर शायद इतनी आसानी से इलाज ना हो पाता कई बार चिकित्सक को तुम्हें बिना बताए इलाज करना होता है तुमने देखा ना चिकित्सक जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता तो तुम पढ़ नहीं पाते वो एकदम जरूरी है कि तुम ना पढ़ पाओ तुम पढ़ लो तो इलाज होने मुश्किल पड़ जाए क्योंकि कभी कभी तो ऐसी चीजें लिखता है जो तुम जानते ही हो इनमें कुछ इनमें रखा क्या तुम खुद ही जानते हो इसलिए एलोपैथी लैटिन और ग्रीक नाम चुनती दवाइयों के वो एकदम उचित है अगर तुम्हारी भाषा में नाम हो तो तुम कहोगे अरे समझो कि अजवाइन का सत्य वो लैटिन और ग्रीक में हो तो तुम जाके पांच रुपया या दस रुपया दे आते हो केमिस्ट को वो अगर हिंदी में हो तुम दो आना देने को राजी ना हो और अजवाइन का सत्य अजवाइन के सत्य से कहीं कोई ठीक हुआ है ये तो बड़े बूढ़े घर में कहते ही रहे ये पत्नी तुम्हारी कह ही रही थी कि अजवाइन ले लो पेट में दर्द है गैस है फला ढिका अजवाइन ले लो उसकी तो तुमने सुनी भी नहीं थी अजवाइन ली भी थी तो कोई परिणाम भी ना हुआ था लेकिन ये डॉक्टर का नाम बड़ी डिग्री बड़ा दख्ती बड़ी भीड़ इसके बैठक खाने में दो घंटे तक प्रतीक्षा ये सब दवा का हिस्सा है फिर इसका प्रिस्क्रिप्शन इसकी लिखावट पढ़ने में नहीं आती मुल्ला नसुद्दीन मुझसे कह रहा था कि डॉक्टर ने जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया था बड़ा काम आया मैंने पूछा क्या काम आया उसने कहा दवा तो उससे ले ही ली दो महीने तक रेल में सफर किया बता बता के कि ये पास है क्योंकि कोई उसको पढ़ नहीं सकता तो वो चेकर भी कुछ कह नहीं कि ठीक है झंझट मिटाओ वो तो बड़े काम की चीज है उसको जहां भी झंझट आती मैं बता देता हूं एकदम उसको कोई पढ़ तो सकता नहीं और कोई ये मानने को राजी है नहीं कि पढ़ नहीं सकता इसलिए कहता बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ो तुम अगर उसको फिर से डॉक्टर के पास ले जाओ तो शायद तुम्हारा डॉक्टर भी उसे ना पढ़ सके अनिरुद्ध ने ठीक ही किया कि कहा नहीं चुपचाप एक प्रक्रिया बता दी मेरे पास लोग आते हैं कोई कहता क्रोध से परेशान है मैं कहता हूं ठीक क्रोध की तुम फिक्र ना करो ध्यान करो उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो आए थे क्रोध के लिए और मैं कहता हूं ध्यान करो वो समझते हैं कि उनकी बीमारी को तो मैंने छुआ ही नहीं तुम्हारी क्रोध की बीमारी को छूने की जरूरत ही नहीं है तुम अगर किसी तरह ध्यान में उतर जाओ थोड़ी देर अपने को भूलने लगो विस्मरण करने लगो नाच में गीत में गान में ध्यान में भक्ति में भाव में क्रोध की क्षमता अपने आप छीण हो जाएगी कोई आता कहता मुझ में बड़ा अहंकार प्रज्वलित दग्ध अंगारे की तरह क्या करूं कैसे बुझाऊं मैं कहता हूं तुम ध्यान करो उसको भी बात ठीक नहीं लगती क्योंकि उसे लगता है कि वो तो इतनी बड़ी बीमारी लेके आया और मैंने उसे ऐसे टाल दिया कहा कि ध्यान करो वो सोचता है शायद मैंने टाल ही दिया और फिर उसे ये भी हैरानी होती कि कोई भी बीमारी लेके आओ मैं कहता हूं ध्यान करो कहीं सब बीमारियों की एक दवा हो सकती मैं तुमसे कहता हूं हो सकती क्योंकि सब बीमारियों के पीछे एक मन है और सब दवाओं के पीछे एक ध्यान है ध्यान यानी मन रहित दशा और तो क्या ध्यान का अर्थ होता है ध्यान रामबाण है उससे सब शत्रु मारे जाते क्योंकि शत्रु के नाम कुछ भी हो सब मन के ही नाम है अनिरुद्ध ने ठीक किया कि रोहिणी को कहा कि तू जा इस काम में लग जा उसने उसकी बीमारी की चर्चा ही ना उठाई उसका विश्लेषण भी ना किया कभी कभी विश्लेषण महंगा पड़ जाता है मनोचिकित्सक विश्लेषण करते हैं तो बीमार को तीन तीन चार चार साल पांच पांच साल लग जाते रोज जाओ घंटे भर विश्लेषण चलता है पांच साल मन का विश्लेषण चलता है फिर भी कुछ खास परिणाम होते ऐसा दिखाई नहीं पड़ता विश्लेषण थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गया निदान ही निदान चलता रहता है औषधि का मौके नहीं आता असली बात तो औषधि है निदान तो चिकित्सक कर ले अपने भीतर निदान की तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं अनिरुद्ध ने देख लिया होगा कि मामला क्या है अनिरुद्ध की बहन थी बचपन से जानता होगा कि इसका असली रोग क्या है इसका असली रोग है रूप की आकांक्षा इसका असली रोग है दम्भ घमंड वही रोग इसे खाए जा रहा है यह अपने को भुला नहीं पाती ये अपनी देह को नहीं भुला पाती उसने चुपचाप एक विधि दे दी यह काम ऐसा था कि कठिन था पैसा था नहीं पास गहने बेचने पड़ेंगे और गहना अगर कोई सुंदरी स्त्री बेचने को राजी हो जाए तो उसने अपने सौंदर्य को सजाने का आधा काम तो बंद कर ही दिया आखिर गहने का लोभ ही क्या था गहने में अर्थ ही क्या था वही अर्थ था कि ज्यादा सुंदर दिखे हीरे जवाहरात का सौंदर्य भी मेरे सौंदर्य में जुड़ जाए और मुझे चमकाए और दीप्तिवान करे अनिरुद्ध ने ऐसी तरकीब की कि सब गहने बिक गए शायद कीमती साड़ियां भी बेच दी होंगी तो उस रूप को सजाने का जो उपाय था वो तोड़ दिया अनिरुद्ध ने जड़ से काट दिया और फिर बड़ी बात यह कि यह काम ऐसा था जल्दी करना था वर्षा आती थी और बड़ा काम था और यह रोहिणी बिल्कुल उलझ गई होगी सुबह से शाम तक थकी मांदी काम में लगी रहती होगी रात बेहोश होकर पड़ जाती होगी सुबह फिर भाग के जाती होगी ये काम इतना बड़ा था बुद्ध द्वार पर खड़े थे वर्षा सिर पर आती थी इतना बड़ा काम उसके ऊपर आ पड़ा था उसे पूरा करके दिखलाना था पुरानी माननी स्त्री थी इतना बड़ा दायित्व मिला था उसे पूरा करना ही है इस सब में भूल गई होगी तो बुद्ध ने जब वो बुद्ध के पास गई तब बुद्ध ने कहा जानती हो किस कारण हुआ नहीं बनते हम रोग से पीड़ित हैं और हम ही रोग के जन्मदाता हैं और हमें पता भी नहीं कि कैसे हम रोग को पैदा करते अब तुम इलाज भी कर लो तो क्या होगा अगर तुम रोग को पैदा करते ही चले जाओगे तो कितना ही इलाज करो कुछ हल ना होगा एक हाथ से इलाज करोगे दूसरे हाथ से रोग पैदा करोगे तो कब अंतिम परिणाम आने वाला है कभी नहीं लेकिन अब घड़ी आ गई थी अब एक प्रतिशत बीमारी बची थी अब विश्लेषण किया जा सकता है और इस सोई हुई स्त्री को जगाया जा सकता है बुद्ध ने यह मौके को देखकर कहा रोहिणी तेरे क्रोध के कारण तेरा क्रोध ही तेरे रूप पर कुरूपता बन गया है तुमने कभी देखा कि सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी जब क्रोध करता है तो कुरूप हो जाता काश तुम्हें पता हो कि तुम कितने कुरूप हो जाते हो जब तुम क्रोध करते हो और तुम कितने सुंदर हो जाते हो जब तुम प्रेम करते हो तो शायद तुम इसी कारण क्रोध करना छोड़ दो कभी आईने के सामने खड़े होकर क्रोध की मुद्रा बनाना क्रोध को जगाना बीभत्स चेहरा खड़ा करना और देखना कि क्या हालत तुम्हारे चेहरे की हो जाती अपना चेहरा तो क्रोध में दिखता नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता कि क्रोध में जब तुम आते हो तो क्या तुम्हारी गति हो जाती कैसा नरक तुम्हारे चेहरे पर उतर आता है कैसी हिंसा कैसी हत्या तुम कैसे पशुवत मालूम होने लगते हो तुम्हारी आंखें खून से भर जाती तुम्हारी मुठ्ठियां भिज जाती तुम्हारे दांत पिसने लगते ये पशु की अवस्था है तुम्हें पता है ना कि पशु जब क्रोध से भरता है तो दो ही काम कर सकता है एक तो अपने नाखून अंगलियों से लोच सकता है इसलिए मुठ्ठियां भिज जाती और दूसरा अपने दांतों से चीड़ फाड़ सक कर सकता है और तो कोई पशु के पास हथियार होते नहीं आज भी आदमी जब क्रोध करता है तो डार्विन सही है यही सिद्ध करता है तब तुम्हारी मुठ्ठियां बिछने लगती तुम एकदम लोचने को तैयार हो जाते हो और तुम्हारे दांत काटने को तैयार हो जाते तुम गिर गए पशु तल पर तुम आदमी ना रहे क्रोध के क्षण में और स्वभावता उस अवस्था में अगर तुम्हारे चेहरे पर पाश्विकता उभर आती एक हैवानी स्थिति बन जाती तो कुछ आश्चर्य नहीं काश तुम देख सको अपने चेहरे को क्रोध में लेकिन दूसरे देखते तुम दूसरों का देखते हो अपना कोई भी नहीं देख पाता अपना जो देखने लगे वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है उसे होना ही पड़ेगा तो कभी कभी आईने के सामने क्रोध में खड़े हो जाना क्रोध को उभारना एक कल्पना खड़ी करना एक नाटक खेलना अपने दुश्मन का स्मरण करना जिसको तुम मार ही डालना चाहते हो और सोचना कि मारने को बिल्कुल तत्पर हो गया हूं अब मेरी कैसी चित्त की दशा होगी और मन कैसा होगा आंखें कैसी होंगी चेहरा कैसा होगा और देखना अपनी कुरूपता शायद तुम फिर कभी क्रोध ना कर पाओ फिर कभी करुणा का भाव जगा के भी देखना क्योंकि क्रोध के विपरीत है करुणा तब तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे चेहरे में बुद्धत्व उभर आता है तुम्हारे चेहरे में छिपा हुआ बुद्ध प्रकट होने लगता है तुम्हारे चेहरे में कुछ एक अपूर्व प्रसाद भी छिपा है जैसा पशु छिपा है वैसा परमात्मा भी छिपा है जब तुम करुणा भर के खड़े होगे तब तुम अचानक अपने भीतर परमात्मा को प्रकट होते पाओगे उसकी तुम्हें जरा भी झलक मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति सुनिश्चित है बुद्ध ने कहा तेरे क्रोध के कारण यह अत्यंत क्रोध का फल है और इसलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला तू ये दीन दरिद्र भिक्षुओं के लिए भिखारियों के लिए घर विहीन अनागरिकों के लिए इतनी आतुरता से छप्पर डाल रही है मकान बना रही है इस करुणा के कारण ये रोग अपने से दूर हो गया क्रोध के कारण पैदा हुआ था करुणा के कारण दूर हो गया क्रोध के कारण जो बीमारी है करुणा उसका इलाज है हिंसा के कारण जो बीमारी है प्रेम उसका इलाज है अहंकार के कारण जो बीमारी है विनम्रता उसका इलाज है लेकिन बुद्ध ने कहा पूरा दुख दूर नहीं हुआ क्योंकि करुणा तेरी अभी जागृत करुणा नहीं ऐसा तूने किया लेकिन सोए सोए किया अभी इसमें भी थोड़ा अहंकार बचा है थोड़ा सा अहंकार कि देखो कितना बड़ा काम कर रही हूं कोई नहीं कर सका कपिल वस्तु में वो मैं कर रही हूं अभी इसमें एक शुभ अहंकार जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं पायस इगोइज्म एक पवित्र अहंकार अहंकार तो अहंकार है चाहे कितनी पवित्र हो जहर तो जहर है चाहे कितना ही शुद्ध हो असली तो बात यह है कि जितना शुद्ध हो उतना ही खतरनाक होगा अशुद्ध जहर में उतना खतरा नहीं है मुल्ला नसुद्दीन मरना चाहता था जहर ला के पी के सो गया सुबह बड़ा हैरान हुआ जब दूध वाले की आवाज सुनाई पड़ने लगी उसने कहा हद हो गई क्या यहां मर के भी दूध वाले आते हैं और जब उसका बेटा बस्ता लिए उसके पास से निकला उसने धीरे से आंख खोल के देखी उसने कहा दोगे क्या ये बेटा भी मेरे साथ ही आ गया और स्कूल जा रहा है और जब उसने पत्नी की आवाज सुनी तब तो वो चौंक के बैठ गया उसने कहा यह नहीं हो सकता क्योंकि जिससे बचने को मैं मर रहा था अगर वो भी साथ आ गई तो मरने का फायदा क्या आंख खोल के सब देखा तो अपने ही कमरा है बड़ा नाराज हुआ भागा गया दुकानदार के पास जिससे जहर खरीद के लाया था कि क्या मामला है दुकानदार ने कहा साहब अब क्या करें हर चीज में मिलावट शुद्ध जहर आजकल मिलता कहां है यह कलयुग चल रहा है सतयुग की छोड़ो बड़े मियां शुद्ध चीज मिलती कहां है अशुद्ध जहर उतना खतरनाक नहीं है शुद्ध जहर की मात्रा थोड़ी भी होगी तो बहुत खतरनाक हो जाएगी यद्यपि जहर इतना शुद्ध है कि अब शरीर पर उसके परिणाम नहीं पड़ रहे क्योंकि शरीर पर तो अशुद्ध चीत के परिणाम ज्यादा पड़ते हैं इसलिए तुम फर्क देखना एक असात्विक अहंकारी का रोग शरीर पर प्रकट होने लगेगा और सात्विक अहंकारी का रोग शरीर पर प्रकट नहीं होगा उसको अगर देखना तुम्हें जरा गहरी आंखों से खोजना होगा वो भीतर होगा बड़ा सूक्ष्म होगा संसारी का अहंकार कोई भी पकड़ ले सन्यासी का अहंकार पकड़ने के लिए आंखें चाहिए भोगी का अहंकार कोई भी पकड़ ले त्यागी का अहंकार पकड़ने के लिए आंखें चाहिए बुद्ध ने कहा कि देख करुणा से लाभ तो हुआ लेकिन अभी करुणा तेरी सोई सोई मूर्छित है इसे जगा जाग के कर जो तू कर रही तेरा अहंकार सूक्ष्म होकर मौजूद है अब इसे भी जाने दे और तब उन्होंने ये गाथाएं कही क्रोधम जहे विप जहे मानम संजोनम शब्द मत्तिक में तम नाम रूपास्मिम असज्जमानम अकिंचनम नानु पंति दुखा यो वे उपतितम कोधम रथम भंतम वधार ए तमहम सारथिम ब्रूमि रश्मिक गहो इतरो जना अकोधेन जिने कोधम असाधुम साधुना जिने जिने कदरियम दानेन सच्चेन अलिक वादिनम सच्चम भणे न कुझे दजणपास्मि याचितो एति ही ती ही ठाणे ही गच्छे देवान संति के क्रोध को छोड़े अभिमान को त्याग दे सारे संयोजनों के पार हो जाए इस तरह नाम रूप में आसक्त न होने वाले तथा अकिंचन पुरुष को दुख संतप्त नहीं करते जो चढ़े हुए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है उसी को मैं सारथी कहता हूं दूसरे तो केवल लगाम थामने वाले अक्रोध से क्रोध को जीते असाधु को साधु से जीते कृपण को दान से जीते और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते सच बोले क्रोध ना करे मांगने पर थोड़ा भी अवश्य दे इन तीन बातों से मनुष्य देवताओं के पास पहुंचता है ऐसी सूत्र में गाथाएं बुद्ध ने रोहिणी को कही इनमें कुछ शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं उनको अलग ख्याल में ले लें क्रोध को छोड़े अभिमान को त्याग दे सारे संयोजनों के पार हो जाए सारे संयोजनों के पार हो जाए कल के लिए आयोजन बना के न जिए सहज जिए जो होगा कल होगा जैसा होगा वैसा होगा हम तो मौजूद होंगे तो जो बन सकेगा कल कर लेंगे संयोजन ना बना है अहंकार बड़ी योजनाएं बनाता है अहंकार कल के लिए बड़े सेतु बनाता है अहंकार कल में ही जीता है इसलिए जी ही नहीं पाता कल और परसों न केवल इस संसार में बल्कि परलोक में भी विचार रखता है कि कैसा कैसा इंतजाम करना क्या पुण्य करूं क्या ना करूं ताकि परलोक में भी जगह परमात्मा के मकान के बिल्कुल बगल में मिले ये जो संयोजन है ये जो प्लानिंग है इसको बुद्ध कहते हैं ये बंधन है सहज होकर जिए तुम्हारे सारे संयोजन काल्पनिक है लियो तलस्ताय कि मैं कहानी पढ़ रहा था एक गरीब आदमी एक बगीचे में ककड़ियां चुराने घुसा खूब ककड़ियां लगी थी अभी ककड़ियां उसने तोड़ी नहीं थी लेकिन ककड़ियों को देख के उसका मन बड़ी कल्पनाओं से भर गया उसने कहा कि आज तो गजब हो गया सारी ककड़ियां ले जाऊंगा बेच के जो पैसा आएगा उससे मुर्गियां खरीद लूंगा अंडे बेचूंगा अंडों से जो पैसे मिलेंगे तो एक भैंस खरीद लूंगा फिर दूध बेचूंगा फिर दही बेचूंगा फिर घी बेचूंगा फिर पैसे आते जाएंगे तो मैं भी इससे अगर दस गुना बगीचा लगा के ना दिखलाया तो मेरा नाम मेरा नाम नहीं ककड़ियां ही ककड़ियां पैदा करूंगा और यह ध्यान रखना उसके मन में ख्याल आया है कि जिस तरह मैं चोरी करने आया हूं कोई अगर चोरी करने आ गया तो तो उसने कहा ध्यान रखना इस तरह का मेरे बगीचे में ना चलेगा अब वो सोचने लगा जोर जोर से कि भी हो सकता है चोरी हो जाए उसने कहा इस तरह मेरे बगीचे में ना चलेगा पहलेदार रख दूंगा और रख ही नहीं दूंगा पहरेदार क्योंकि पहरेदारों का आजकल क्या भरोसा है खुद ही मिल जाए चोरों से तो बीच बीच में जाके चिल्ला के आवाज देता रहूंगा सावधान होशियार रहना इतने जोर से निकल गई ये बात सावधान होशियार रहना कि वो माली आ गया बाग के ये पकड़े गए बुरी तरह ककड़ी अभी तोड़ी भी न थी संयोजन बहुत कर लिया संयोजन जरूरत से ज्यादा हो गया संयोजन में जीता है संसारी मन संयोजन के बिना जीता है सन्यासी मन सन्यास यानी सहज होकर जीना जो चढ़े हुए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है उसी को मैं सारथी कहता हूं बुद्ध कहते हैं क्रोध न आया क्रोध की परिस्थिति ना बनी और तुमने क्रोध ना किया यह थोड़ी कोई गुण है किसी ने गाली ना दी तो तुमने क्रोध ना किया किसी ने बुरा भला ना कहा तो तुमने क्रोध नहीं किया तो यह थोड़ी कोई गुण है चढ़े हुए क्रोध को जो भटक गए रथ की भांति रोक लेता उसी को मैं सारथी कहता हूं किसी ने गाली दी और तुमने क्रोध ना किया किसी ने जूता फेंक दिया और तुमने क्रोध ना किया जो चढ़े गए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है उसी को मैं सारथी कहता हूं दूसरे तो केवल लगाम थामने वाले कभी कभी ऐसा होता ना तुम्हारा छोटा बेटा भी रथ में बैठा हो और लगाम थाम लेता है रथ तो चले गए कभी कभी तुम्हारी कार में बैठा हो तो स्टीयरिंग व्हील संभाल लेता है हालांकि तुम बिल्कुल नहीं छोड़ देते तुम पकड़े रहते हो हिसाब रखते हो मगर वो थाम का बड़ा मजा हो लेने लगता है मगर वो सिर्फ लगाम थामने वाला है अड़चन आ जाएगी तो उससे कुछ गाड़ी संभलने वाली नहीं है संभालनी तुम्हें ही पड़ेगी वो कोई सारथी नहीं है तो बुद्ध कहते हैं अक्रोध को क्रोध से जीते साधु को साधु से जीते असाधु को हमारे भीतर क्रोध पड़ा है उसे अक्रोध से जीतना और हमारे भीतर असाधु पड़ा है उसे साधु से जीतना और हमारे भीतर कृपणता पड़ी है उसे दान से जीतना और हमारे भीतर झूठ पड़ा है उसे सच से जीतना ऐसा जो करने में सफल हो जाए वो मनुष्य देवताओं के पास पहुंच जाता है वो मनुष्य देवता हो जाता है उस मनुष्य के भीतर भगवत्ता प्रकट होने लगती